जादूगरों ने कहा कसम उस जात की जिसने हमें पैदा किया है हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं उन पर हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो तुम जो कुछ भी करोगे इसी दुनियावी जिंदगी के लिए होगा